और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग जहन्नुम के लिए पैदा किए उनके पास दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं उनके पास आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं और उनके पास कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं वो लोग चौपायों की तरह हैं बल्कि वो उनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं